हाँ, तो पीछे खुद पीछे बैठा था सामने चला है उसने पीछे रहेगी तो रहोगे चलो खोलो इसको रख देंगे खोलो जल्दी खोलो तो जो इसका आगे इसके लिए शायद वो उसको हम्म। चलिए ये लिखे हैं हम्म। कोई रेड पेन वहाँ रखा उठा तीन रंग के दूसरे कलर का पेन हाँ। है क्या दिमाग है ना बजलवाए दम पाँच परत पेन मिला ये पांच जो है दोनों एक ऐसा इनका एक ग्रुप है लाओ ना मार्ग पर ये पांच हो ठीक है अब हमको नौ देने हैं तीन दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक है ये हुए पाँच एक दो तीन चार ये हुए पाँच नौ और सात इनको अभी आपको पाँच नौ और सात इनको देखो वहाँ रखो तो वो भी देखेगा भाई ऐसा रखो तुम्हारे पास देखने की नहीं है बाकी बना देंगे सुबह ऊर्जा उठ ये पाँच के रूप एक समान होंगे देखो विद्वस या देखो विद्वान विद्वान विद्वांसों विद्वांसा विद्वांसम विद्वांसों तुम्हें रखे हुए रूप है तो तुम चुप रहो नौटंकी मत करो वहाँ रखा हुआ है विद्वान विद्वांसों विद्वांसा विद्वांसम ये पांच बने एक बने सब ना सुनाई पड़ रहा है अब ये नौ आएंगे हरे रंग के उसमें विदुषा हो जाए क्या बनेगा विदुषा जो बस का वाता उसको संप्रसारण होकर <coughs> विदुषा तो नौ बनेंगे विदुष विदुषा उंगली रखने वाले में विदुषा विदुषे विदुषा विदुषा विदुषो विदुषा विदुष विदुषो इतने साल बनेंगे और भ्याम में क्या होगा ये साकुदा हो जाएगा तो विद्वद्भ्याम विद्वत भी विद्वत विद्वद्भ्या विद्वत विद्वद्भ्या विद्वद विद्वत ठीक है ये सात एक समान उच्चतम ग्राफ के एक विद्वान एक विदुषा और एक विद्वत्ता सात एक समान होते हैं नौ एक समान होते हैं पांच एक समान आपने राजन याद किया आपने राजन का नाम है अनंत हम्म। अनंत कुंड इसका नाम है बसवंत कुंड बसु इसके अंत में बसवंत यह बसवंत ठीक है अब बता रहे हैं भगवत तो शब्द याद नहीं आप याद होते हैं तो भगवत इसका नाम है अत्वंत अत्वंत राजा है अनंत विद्वा से वस्वंत और भगवत है अत्वंत इसके अंत में अथ है अतु अतु इसके अंत इसमें ये पांच में समागम होगा भगवान भगवंत भगवंता भगवंतम भगवंत बस कितने पे बनाओगे बाकी में जोड़ देना जोड़ा का मतलब है दस सत्तर रुपये तेरह मिला देना तो भगवता हाँ। भगवता हाँ। चलो आजाद विभक्ति में जोड़ देना आजाद विभक्ति में जश कर जश भगवत व्यायाम यहाँ क्या हो जाएगा ताकुदा भगवत व्यायाम दोस्तों तो बता दो इनको जनाम जशोर थे और खनिज देखो भाई देखो क्या होगा क्या करें कि दो अक्षर बोलने लगे बोलने लगे दो अक्षर जो है सा ये खर है और भा भाग को छोड़ो भा को जरूर करिए ये जलाम जशोते जो है जलाम जशोते के जल के स्थान पर जश होता है तो भा परे होने पर करना जश और सा परे होने पर जश करके चलना जश करके चलो जश तो वहाँ भी होते ही जश तो होते जश तो पर संज्ञा में हो जाता है भगवत ध्यान में जो ये ध्यान हम कर रहे हैं ये भाव को देख के नहीं हो रहा है ये खुद पद है इसके कारण ही हो रहा है ये भगवत का जो शब्द है ये पद है हालात में उसके परे होने का पद संज्ञा याद आजादी परे होने का भाग संज्ञा और बचे हुए परे होने का पद संज्ञा ये पदांत होने के कारण दाकुदा हो रहा है भाग के कारण नहीं हो रहा है भाग ज्ञान होता तो जनाब दर्शे पदान तो निकल जनाब जशवंत ठीक है तो जब सु आया तो ही पदार्थ होने से ताकुदा हो और फिर सु को देखा तो खरीचा से खरीचा से होने वाला चर पद में भी होता है पद में भी होता है जनाब जशवंत से हमारा जश केवल पदार्थ होता है वो आगे के अक्षर को नहीं देखता जनाब जनाब जयशशि को आगे देखो जनाब जयशी अब अपराम को आगे देखेगा कि आगे जैसे तो जयशोंत जनाब जयशोंत अपने अपने आप पद है पद के अंत में क्यों तो उसको आगे किसी अक्षर से कोई जरूर पदांत वाली संधि को आगे का अक्षर से कोई रुक तो ये सब पद बन गए कहाँ पद बन रहा है ध्यान देश ध्यान देश ध्यान देश इतनी व्यक्ति लगी उनके तो पहले वाला जो भी रथ दिखे पद बन गया फंस गया फंस गया वही शराब नशे में लग गया इसको सही होगा जीवन तेजा लग गया सही होगा दस रुपया लग गया भ्रष्ट भ्रष्ट लग गया चोर लग गया जितने सूद परांते वाले हैं संयोगात लोपा इसको संयोगात निरंते च रात्सस्य चोटु वृष्य वृष्य जन्म यशो के सब तो ये भा आएगा तो तीसरा अक्षर बनाना चाहिए गुस्सा आएगा तो पहला अक्षर बनाना चाहिए ठीक है इसका भी पढ़ा आपने समझ में जाना राजन अनंत वसवंत भगवत अब लिखो गच्छत ये शत्रु शत्रु तो करते हैं गच्छत आपको शत्रु ये गच्छा था गच्छा तो नहीं गच्छा था इसका नाम शत्रु है जो अत्वंत होता है उसको अत्वसंत से ज्यादा तो उसे दीर्घ होगा सुनो शत्रु को ही लगेगा इसमें तो होगा और दीर्घ होगा तो गच्छत और भगवत में क्या फर्क है भगवत में प्रथमा वही वचन में भगवान दीर्घ हो है तो गच्छत में गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तो गच्छन्तं गच्छन्तो और आगे गच्छता गच्छता गच्छन्तो ठीक है इतने में तो नहीं जाते हालांकि शब्दों के रूप अकल से बना लिए जाते हैं लेकिन अजंत शब्दों के रूप अकल करते हैं बहुत सारी प्रक्रिया अलग अलग प्रक्रिया की नहीं कहूँ अनंत बसवंत अत्मंत शत्रु शत्रंत अत्यंत बेटा भाग्य वहाँ भगवान होता है या गच्छान नहीं होता जो दीर्घ होता है वो अत्यंत अत्व संतत चाधातु नहीं करता उसके अंदर में अतु नहीं है सुदेश अत आप दिख रहे हैं पर वो अतु प्रत्यय है अतु अतु सतवत कहते हैं तो तवत होता है वो होता है अतु और क्षत्रिय में भी है अतु दोनों हो गया करोगे अभी कौन अनंत होता है दो प्रकार अनंत दो प्रकार का तो को सूत्र से पढ़ेंगे तो बिना सूत्र मतलब बात तो वही पहुंचना तो वही है दिल्ली जाना है रेगा तो चले जाओ चाहे करेगा तो चले जाओ वहाँ तो जाओ वहाँ तो जाओ हम लोग बैलगाड़ी चल रहे इनका रास्ता बैलगाड़ी का रास्ता है उसमें तो है बैलगाड़ी का तुम लोग का यह का रास्ता है ये ये से जब तक जाएंगे तब तक पहुँच सकते इसको तो लगाया तब इसका क्या हो गया भाई उनके पास है कोई क्या जो है मैं बता रहा हूँ कार को नहीं छोड़ते और यहाँ जो तीन जाली रखी है कूलर की वो भी जाली होता है तुम्हारा रास्ता है तो रुके उनका घर बनता है ये लोग जब तक बनाएंगे शक्ति मतलब तक अब तुमको बताते अंदर तो तुम्हारा और ये अंदर जो बताया है इसमें सप्तमी एक वचन का जो वहाँ आग अमोद होता भी है और नहीं होता है राजा ने जाली मना कर रहे बाबा जी जाली क्या करेंगे उनको जो जो खाने राग जी राजा भाषा के शोर सुन रहे जी में विकल्प से लोग अब आपको बताते हैं अन्य तो बताते हैं और से तो बना एक है राजन राजन राजन इसको हटाओ एक लिखो यजन और एक लिखो चरण सुचरण सुपर्वन सुपर्वन नहीं सुचरण दोनों लिखने सुपर्वन भी सुचरण सुचरण

विलास समझ है और माँ का संयोग क्यों संयोग है क्योंकि रामा के बीच में कुलच और वहाँ जावा का संयोग है क्योंकि जावा के बीच में कोई संयोग हल अचल ही तो अन के पहले वांत संयोग है अन के पहले मांत संयोग जब अन के पहले वांत मांत संयोग होता है वो जो हमने लोप किया है allopona geográfica न तो वहाँ कुछ नहीं वहाँ बस जो देंगे आज़ादी प्रत्यय में लोक नहीं हुआ यज्वा यज्वाना यज्वानम यज्वानम यज्वाना यज्वना यज्वना यज्वना यज्वनु यज्वनाम यज्वनी यज्वनु कुछ नहीं हाँ अनुपम नकल गुरु शायद इसमें नहीं लिखा है बच्चों लिख नहीं सकते एक लिखी पेज चिक कर लिखा नहीं लिखा है आप लोग हाँ हाँ, हाँ आत्मा ले सुचर्मन के बजाय आत्मा ले अपने आप नहीं करते इसको दीक्षा जी क्या हो रहा है कि वहाँ पानी रहता तो फिसलते हैं उसको हमने वहाँ डलवा दिया है यहाँ बोरा डालने के लिए रोज कहते हैं किन तो डरते नहीं प्रियंक से प्रशांत कहाँ गया प्रशांत है प्रशांत पंडित है क्या उसको बैठे नहीं क्या करे प्रशांत प्रशांत कहाँ है प्रशांत है कहाँ अब इतना पाठ हो गया तो जानता है क्यों प्रशांत नहीं जिसको नहीं पता चला जाएगा कितनी शांति होगी शुरू रहने दो रहने रहने रहने दो रहने दो जी माँ ये पाठ जो चल रहा है छोटे बच्चों का या तुम पंडित हो तो ये क्यों सुन रहे तुम तो रोज नाटक करते तुमको मारेंगे तो मुंह टूट जाएगा लेकिन तो क्या करें भाई तुमको नहीं पढ़ना याद तो तुम चले जाओ ना भाई छुट्टी पाओ क्यों परेशान होते हो तुम तुम भी परेशान हम भी परेशान रहे थे तुमको तो पढ़ाना पड़ता है रोज कल भी यही हुआ कहाँ थे तुम नहीं बैठा कहाँ बैठे थे क्यों बैठे थे वाले किसकी आज्ञा सवाल में गए तुम पढ़ रहा किसकी आज्ञा से गए स्वतंत्र हो गया तुम नहीं यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति हमारे अधीन है हमारे अनुसार तुम चलिए इससे पूछ गए थे हॉल में तुम कितनी देर बैठे हैं अभी आरती के बाद उतनी देर इसको खड़ा रखना खड़ा रहेगा टिकेगा नहीं यही बैठ के पढ़ाओ खड़ा कितना पढ़ाया था पढ़ाऊंगी लगातार खड़ा रहेगा दो घंटे दो खड़ा और दीवार में चेक कर देना और यहाँ रहेगा हम यहाँ देखेंगे यहाँ खड़ा ऊँचा यहाँ दिखेगा हम इधर खड़ा खड़े हो जाएंगे वहाँ तो वो मारेंगे मुझे उठ जाएगा तुम्हारा अच्छा लगता है खाने में आत्मा आत्मन ज्ञाता अम्मा का सही आत्मन आत्मन राजन में इस आकर आकलोप हुआ है आकर आकलोप हुआ तो इस तो चुनाव से ना कोई यहाँ हो यहाँ लोग नहीं हो क्योंकि मां तो सही है ये लोग यज्ञ और आत्मन इसी प्रकार चरमन शब्द इसको तुम समझ नहीं भावना दूसरा फॉर्मूला बता जो रूप शास्त्र बनता है तो जो रूप शास्त्र बनता है वही रूप नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीय की विवेचन बनता है जो रूप शस्त्र बनता है वही रूप नपुंसक प्रतिमा द्वितीय के द्विवचन जन्म तो बनाया विदुषा विदुषा विदुषा बनाया शब्द दिया अच्छे विद्वान वाला कुल उसके रूप में बताओगे तो ये जो रूप ध्यान में बनेगा वो एक प्रथमा प्रतिभा बचेगा तो सबका प्रॉब्लम होता है जो ध्यान में बनेगा प्रथमा द्वितीय एक प्रथमा द्वितीय तो एक ही होती है एक ही जो रूप ध्यान में बनेगा वो एक बचन है और जो शस्त्र बनेगा वो द्विवचन होता है ठीक है और जो जस्ट बनेगा वो यहाँ शिव मुसलमान हो जाए शिव बने शून्य शीशी शी शी पता है नपुंसक मालूम है नपुंसक पता है शून्य शी शी ये पता है नपुंसक ये मतलब शिव शून्य ई ई दो ई ई ई ई मना मनसी मनांसी मना मनसी आपने मनस मनस ये प्रत्यय है नपुंसक देखो नपुंसक के ये प्रत्यय यदि तो है तब अम ई ज्ञानम ज्ञान अदंत शब्द में अम होगा और बाकी भी प्रत्यय में अम ई और अनंत में शून्य ई नपुंसक के प्रत्यय प्रथमा में पंद्रह रुपया में हवा की रुपया से एक समान हो जाता सादा तो नहीं होता पर मोटा मोटा समय होती तो आपने विद्वान को बनाया विद्वान विद्वान विद्वान सब सब विद्वान सब विदुषा तो विदुषा में जो बनाना वही बनेगा यहाँ विदुषी सुविदुषी सुविदुषी जो बनेगा आपका शस में वही बनेगा शिव समझ रहे हो समझ रही बच्चों क्या बताया हमने जो सुनेंगे समझ बड़े बच्चों को छोटे बच्चों अरे हम जो पढ़ाते हैं वो सुनना चाहिए ब्रह्म वाक्य सुनेंगे सुबंध पढ़ने आए सुबंधे की बात तो कर रहे हैं किस प्रकार से मैंने बच्चों को सुबंध पढ़ा दी और तुमसे ज़्यादा पढ़ा दी अपना पढ़ रही हूँ लग रहा है फालतू बैठे हमारा कोई काम बैठे मजा वहाँ बोलो क्या बोले तुम तो बोलो नहीं सुना तीनों चारों जो है वो सुन गया और ये सुन रहे हैं तो समझे नहीं रहे क्या बोले जो रूप शस्त्र होंगे वही वही जो कहा था उसमें भी होना और हमेशा एक समान होता है शस में भाषण क्या है और शी में भाषण छोटी बात फार्मूले बता रहे हैं सुन ही नहीं रहे बड़ा विदुषा है क्या बनेगा विदुषी ठीक है वहाँ बना क्या बना विद्वांसा वही बनेगा इसमें ये रूप किसके समान बनेगा इसके नीचे लिख दो शस इसके नीचे लिख दो ऋषि वाला रूप हमेशा शस के समान होगा वाला रूप जस के समान होगा उसको के रूप है ये किसी किताब में नहीं मिलेंगे कमोरी में आधे तो आकर्ष बनाना पड़ते हैं आपको सिद्धांत बता दिया बनाओ तो विद्वत विदुषी से विद्वान से बहु विद्वत बहु विदुषी बहु विद्वान से और आगे तृतीय इतना इन बच्चों को बताइए बाहर बैठ जाओ ये छोटा फूल ले लो और प्रशांत को खड़ा एक घंटा डेढ़ घंटा यहाँ खड़ा रहेगा इधर यहाँ सबको देखता है